फिर जब हम उन पर से अजाब को उतनी मुद्दत तक हटा लेते जिस तक उन्हें पहुंचना ही था तो वो एकदम अपने वादे से फिर जाते